बेशक जिनके लिए पहले से ही हमारी तरफ से भलाई मुकर हो चुकी है वो उस जहन्नम से दूर रखे जाएंगे